अब तीसरी बात आई गुंजावतम से परिपित छलसन मुखाया ब्रह्मा जी के मन मन मन में आज तुमने जो बात कही जरा सोचने की है सर ये नवलीन नवनील नीरज तो विष्णु भगवान भी है नारायण भी हैं ये कुछ अंतर है भगवान नारायण का जो स्वरूप सौंदर्य है वर्ण है ये नील ये इसमें श्याम आभा नहीं है ये विशुद्ध नीलाभ है नील वर्ण पर उज्जवल आभा है और श्रीकृष्ण के स्वरूप में ये नील श्यामाभ है इतना अंतर है लेकिन वो अंतर नगण्य है देखने में सब कभी आता तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि तुमने जो दो बात देखी ये नवनील नील घनश्याम नील शरीर और पीतांबर ये तो विष्णु भगवान के भी है यह विशेषता है विष्णु भगवान वो मणिकुंडलों से विभूषित है मनोमय कुंडल है उनके रत्नों के दिव्य रत्नों के वो बाजूबंद हैं कड़े हैं कंकन हैं नूपुर हैं और रत्न समूहों के बड़े बड़े दिव्य आभरण वो पहने हुए हैं पर ये ब्रजराज कुमार ये नंद नंदन इनके आभूषण दूसरे गुंजावतन से परिपिछल सन्मुखाय किसी भगवान ने आज तक घुमची के माला पहनी गई <laughs> ये वन में पैदा होने वाली अपने आप लाल लाल और अपने श्री मुख पर या मस्तक पर काला बिंदु लगाए हुए ये घूमती सामान्य वस्तु घूमती उसका कोई मूल्य नहीं बरतने को तो पेटी में रखें वहां रखें यहां रखें न मालूम कितनी महंगी चीज संभाल के रखने की और सबको मिले नहीं उनकी नकल कौन करे विष्णु भगवान के महिरत्नों के हार की नकल कोई करने जाए तो कौन करे तो किसी गुंजा की माला पहननी हो तो कहीं भी किसी मूर्ति के पेड़ के भी चल गए और फल ले करके माला गूंथनी पहन ली तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नौछावर है भाई बलिहारी उस नंद नंदन रूप की ये अत्यंत तुच्छ वस्तु गुंजा उसका कोई तो अवतंश धारण किए हुई गुंजा के गहने पहने हैं गुंजा के माला पहने हैं और सिर पर भी चूड़ा जो बांध रखा है वो भी गुंजा माला से परिवेष्टित है और उस पर कुछ सोने की हीरे की कलंगी लगाए रखी है <laughs> बोले ना मयूर कुछ है तरी सन्मुखाया ये तो इनका बड़ा सुंदर नवनील नीरज वर्ण उस पर ये स्थिर सौदामिनी के सदृश वो अचंचल बिजली के समान ये पीताम्बर और फिर ये गुंजा की माला और सिर का आभूषण मयूर पिछ और वन्यस्त्र वनमाल ये नहीं कि कोई बढ़िया बढ़िया बगीचों में से कोई माली फूल चुन के लाया हो अलग अलग राजा साहब के लिए खास बगीचे सो नहीं वनमाल वन में जो पुष्प खिलते हैं यद्यपि श्री कृष्ण के इस प्राकृत्य के समय तमाम वनराजी अपनी सारी शोभा सामग्री को लेकर यहाँ पर उपस्थित है परंतु है वन ही तो ये पल्लवों की पुष्पों की माला बीच बीच में तुलसी गुथी हुई तुलसी मंजरी गुथी हुई गुथी हुई कोमल कोमल पत्ते माला में कहीं लाल पत्ता हरा पत्ता और बड़े बढ़िया बढ़िया सुगंधित फूल तो बोले भाई दीनों के बंधु तो यही है ब्रह्मा जी अपने को दीन अनुभव कर रहे हैं ना आज बोले बड़े बड़े लोगों के लिए वो जो बड़े माने जाते हैं वो होंगे जिनके दर्शन दुर्लभ जहाँ पहरे लग रहे वैकुंठ में सनकादि गए तो उनका भी प्रवेश निषिद्ध साप दे दिया पर जा पाए पहले पहले बोले महाराज जरा ठहर जाओ और यह किसी का प्रवेश निषिद्ध नहीं वन में जंगल में तो ब्रह्मा जी ने सोचा अपने मन में कि भाई ये हमारे जैसों का निर्वाह तो इन विराज नंदन के चरण प्रांत तो नहीं हो सकता है ये सर्व सुलभ है और कितने दयालु ये श्री चरण हैं तो ऐसा भाव बैकुंठ बिहारी में नहीं मिल सकता बैकुंठ बिहारी का वैकुंठ देखते ही पैर चका जाए आदमी कल्पना में न आवे तो मुझे तो दान ये दे सकते हैं कि बजराजनंदन ही दे सकते हैं इसी भाव से भावित हुए ब्रह्मा जी कहते हैं गुंजा वचन से नई रूपिक्ष से परिशोभित मुख वाले हे भगवान हे वनवाली आपके चरणों में नमस्कार अब ब्रह्मा जी के सामने बार बार बार बार वो दृश्य आते हैं उनका जो अपरिसीम माधुर्य समुद्र है ये मानो लहरें मारने लगता है वो भगवान श्याम सुंदर का अपने सखाओं को अनर्गल विशुद्ध प्रेम रस का दान अनर्गल कोई बाधा वाला नहीं किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं कोई कोई सम्मान संभ्रम नहीं कोई सत्कार मान नहीं कोई पूजा अर्चना नहीं बताइए किस गोप सखा ने इनकी माए इनकी पूजा की अरे सजाया जरूर अपने सखा को सजाया वो वन धातुओं से चित्रित किया नाना प्रकार के पत्तों को लेकर के बिछा के सुला दिया तब से सेवा करने लगे पर पूजा नहीं ये तो अपने सखा को सुखी बनाकर सुखी होने के लिए अपने सुख के लिए आयोजन तो ये तो इन्होंने बदले में कभी किसी से ये नहीं कहा कल्पना नहीं हुई कि देखो हम इतने बड़े और ये हमारे बराबरी करने लगे बल्कि वो बराबरी करने के लिए उतावले बड़े भाई ये उनको याद आ गया कि देखो कि छोटे छोटे शिशु एक दिन सूरदास जी ने देखा इसको एक दिन खेल रहे बछड़े चराते हुए खेल रहे तो खेलते खेलते अब यहाँ रोज नई नई लीलाएं हूँ और नए नए रस का प्रवाह बहे तो वो सामग्री होनी चाहिए ना वैसी जो उस रस को का उदय कर दे तो ये मान कोप ये सारे के सारे ये उद्दीपन सामग्री हैं तो भगवान ने के ये मन में आया कि आज ये सखा सारे मुझको डांटे तो, तो, तो सुख मिले अद्भुत बात है भला अखिल लोक लोकाधीश्वर सर्वनियंता भगवान ये विशुद्ध प्रेम रसदान के लिए और पान के लिए भी आकांक्षा करते हैं कि ये मेरे मित्र जरा मुझे डांटे कभी किसी भगवान ने ऐसी आकांक्षा की हमें बताई आज तक तो तुमने क्या किया बछड़े चल रहे थे तो बोले भैया देखो हम जरा थक गए हैं और तुमको जरा सा सो जाए बिना हाँ, सो जाओ ना सो जा भैया हमारी गोद में सो जा बोले गोद में तो फिर कोई आके जगा दे कोई आके छेड़ ले तो हम जरा आराम करना चाहते हैं बोले कहाँ करोगे अभी आराम की भी इनके लिए वो बिछौना कैसा अलग है वस्तु बोले भाई जो दाग दिखती है कदम दिखी ये जरा चौड़ी चौड़ी है इस पर सो जाए <laughs> वो वो सैया पर कोमल कोमल हजार मुंह वाले शेष ऊपर से छाया करते रहे लक्ष्मी जी पैर दबाती रहे क्षीर समुद्र में भगवान सो रहे वैकुंठ के उन उस दिव्य प्रासाद में भगवान शयन करें ये नहीं बोले भैया इस कदम की डाल पर सो जाए बोला हाँ, सो जा बोले हमारे बछड़े बोले बछड़े हम संभाल लेंगे कोई बात नहीं तू सो जा तब देख बहुत देर तक सोए मत रहना हाँ बोले मैं थोड़ी देर आराम करके उतर जाऊंगा गए ऊपर साथ जा करके ये लेट गए अब इनकी निद्रा सो निद्रा निद्रा थोड़ी दूसरी चीज है इनकी इनकी इनकी नींद यही है इनका सोना यही इनका जगना यही तो आंख मुंगली अब थोड़ी देर तो सखाओं ने देखा कि ये सोया जरा जगाओ मत अब उसके बिना इनका मन लगे नहीं <laughs> वो अगर बीच में न खेलो श्याम सुंदर तो ये सब के सब व्याकुल हो जाए तो व्याकुल हो गए अरे मेरे कन्हैया उठ अब कन्हैया तो सोए उठे नहीं उठे नहीं कन्हैया तो बार बार ये पुकार जरा पेड़ का पेड़ हिलाओ गिर पड़ेगा नीचे तो अपने आप जगेगा तो उनके पेड़ हिले नहीं इतना विशाल हो स्कंध पेड़ का इनसे हिले नहीं पर अपनी जान में चेष्टा करें पुकार जोर से बोले जरा कंकर फेंको दूसरा बोला कहीं लग गई तो बढ़िया हो तो उसको लग नहीं जाए बोले ऐसे कंकर फेंको भैया जिसमें लगे तो नहीं तो बोले क्या करूं भैया फूल फेंको फूल फेंको तो चेष्टा करके नाना प्रकार से जगाने लगे पर जगने तो ठीक है अब डांट डांट बोले कहीं आया है कहीं का बादशाह बन करके हम तेरे बात तो नौकर हैं यज्ञ मैं मुझे अच्छा इकाया को हटा देना चाहिए इस तमाम जो चोरी जो बस बाशनी है हटा अलग कर सूरदास जी ने देखा नारी करो हरिया पन नारी करो हरिया पन गैया हम क्या कर मंद बाबा के ना तुम हमारे ना सगुसैया मैं मैं मैं मैं तुम्हारे बाप को नौकर मैं तुम्हारे नौकर हजार वाले को अपनी जान को यहां से आज करके सो गया बड़ा बादशाह बन गया राजा बन गया हाथ जोड़ लीजिए उतर के हाथ जोड़े भाई भैया भूल हो गई प्रसन्न हो गए भगवान की देखो हमारे सखा ये कैसे निर्मला करण है इनके इनके हृदय में कहीं पर भी कोई छल छद्म नहीं बनावट नहीं जो भाव आया वही भाव इन्होंने व्यक्त कर दिया निष्ठर भगवान को सरल लोग बड़े प्यारे होते हैं बुद्धिमानों की अपेक्षा इसलिए तार्किक तार्किकों के सामने भगवान का रस रूप नहीं प्रकट होता तो, ब्र, तो ब्रह्मा कुछ तर्क तो करेंगे बीच में आगे पर इसी रूप की सिद्धि के लिए ब्रह्मा भी डर गए कि कहीं किसी तर्क वर्क की बात कह दी तो हमें तो ये शाम रूप चाहिए तो ब्रह्मा जी को याद आ गया कि ये बच्चों के साथ बच्चों के प्रति उनका अनर्गल प्रेमदान फिर याद आया कि देखो ना ये बछड़ों के आकर के सिर सूंघते बछड़ों का मुख चुंबन करते और अपने हाथ में सुहरी हरी कोमल कोमल घास ये बीन बीन करके और बछड़ों के मुंह में देखते तो छोटे बछड़े पानी पीना जाना नहीं तो नमी नमी अपनी अंजलि में जल भर के लाते और बछड़ों को तिरासठ तो बछड़े की जीप निकाल के लप लप पिया करके और जब नहीं होता अंजलि तब फिर तब फिर क्या करते ये सब देखी वर्मा जी ने देखी थी कि अपने पीताम्बर को जा करके ताराओं में डुबो देते भीग जाता तब दौड़े आते और बछड़े का मुंह फाड़ लेते एक हाथ से और यूं निचो देते उसको इस प्रकार से बछड़ों की सेवा करते और गोप शिशुओं की रुचि का अगर वो कहते भैया आप सो जा तो सो जाते वो कहते देख अब हमने तेल आज यमुक धातु सब पीस पीस के रखी है और हम तुम तो सजाएंगे बोले क्या अच्छा, सजाओ भैया बोले देख भैया आप तुम सजाओ हम लोगों को खाली हम हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो तुम भी करोगे बोले भैया हम पहले करने को तैयार <laughs> तो सजाते अपने हाथों उनको उनकी सेवा करते तो ये सोचा ब्रह्मा जी ने और फिर ये वेणुनाद क्या कहना है इसने तो सारे जगत को विमोहित कर लिया अनोखी किया इसने दिव्या दिव्य रस की वर्षा की वेणुनाद ने अनोखी क्रिया तो ये मुग्ध हो गए और इनके इन, इनकी आंखें डूबी इनका मन डूबा अब फिर उनके मन में आया कि वो देख ही रहे हैं बार बार देख रहे हैं तो अब देखा कि भाई ये केवल ये वयमाला इत्यादि नहीं है इनका रूप देखो वो मदर रूप वो वही ध्यान में आ रहा है जब से ब्रह्मा जी आए और जब से भगवान को देखा उस रूप में तो वही रूप उनके ध्यान में है वो बन्य सर्वे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्म शरीर कवल बेत्र विषाण वेणु अब ये देखा इन्होंने हाथ में दध्योदन दही बात को पैर लिए अरे नैवेद्य उवेद्य वो लगाने के लिए कोई कोई किसी प्रकार की दूसरी किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं ये तो बस ये हाथ में वो दही भात का कौर सो भी न मालूम किस किस का हाथ लगाया हुआ तमाम बच्चों के द्वारा स्पर्शित ही तो नहीं भूक्षित भी बच्चों का ऐसे ही तमाम साथ खाते साथ खेलते गज्जो गल और गायों को बछड़ों को हाँकने की नरम सी छोटी सी छड़ी बेल और सिंगा और बंसरी ये सजाए हुए तो ब्रह्मा जी ने देख करके और मुग्ध होकर के कहा महाराज उस संघ चक्र गदा पद्मधारी भगवान हमें नहीं चाहिए उनके तो सामने जाकर डर लगता है कौन बच्चा जाकर उनके साथ खेले और शिवजी का कहीं वो रूप देख देखने तो देख तो ससुराल वाले डर जाए दूसरे की बात तो अलग तो बोले महाराज हम तो ये ये करचल कर दोजन काख में बगल में रेन और बेत और सींग लगाए सींग लिए कसौटी तो में ये बेन घोसे ये जो प्रथम शोभाशाली नंदनंदन है इनको हमारा नमस्कार है तो यहाँ तो बस किसी को आकर्षित करना है तो मुरली बजा दी गायों को इकट्ठा करना है तो सिंगा बजा दिया गायों को इकट्ठी करना है तो गाय डरती नहीं उसे वो ऐसी नरम नरम छड़ी है कि किसी गाय के अगर उसका स्पर्श हो जाए तो गाय समझती है कि तो कोई सहला रहा है हमको तो ये सारे के सारे मधुर मधुर मधुरा के मधुर सब सामग्रियों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण इनको देख करके उनके मन में इस प्रकार की बातें आ गई सब और ये बाल लीला भगवान की स्फुरित हो गई तो मृद पदे पशु कांग आया अब ये देखा याद आई वो बोले देखो ना कितना मधुर हमने तो पहले भी इनके रूप तो देखे ये कूर्म बने मत्स्य बने और फिर ये आजादी जो सिंगा अवतार के तो कांप गए उसी समय ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने यह स्मरण किया कि वो भी उन्हीं का रूप था वो भी यही थे पर इनके माधुर्य से और वहां की भयंकरता से कोई तुलना ही नहीं ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने जब वो रूप देखा तो महाराज पृथ्वी तो देख रही थी तो तमाम तमाम विश्व के सारे प्राणी भय संतुष्ट थे ये तमाम पहाड़ हिल रहे थे तो महाराज वो उस समय की दशा याद आई कि हम तो सामने नहीं जा सके ब्रह्मा जी ने ये को, को याद आया कि हम तो दूर खड़े यूं यूं किया हमने और हाथ जोड़े और एक एक नमस्कार करके भगे वहां से और लक्ष्मी भग गई औरों की बात ब्रह्मा जी ने याद किया उस समय की बात को कि लक्ष्मी जी जो स्वयं भगवान के श्री स्थल पर नित्य निवास करने वाली भगवान की प्रिया जब ये सब के सब संतुष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा लक्ष्मी से कि मैया आप जाओ अगर ये नृसिंह भगवान का कोप शांत नहीं हुआ तो महाप्रलय आगे हो जाएगी प्रलय काल नहीं आएगा ये तो आज ये सबका विनाश ये कर देगी भगवान की ये क्रोध हमें नेत्र तो ज्वाला तो लक्ष्मी जी गई गई तो सही सामने देखा हमारे स्वामी ही तो हैं पर ये स्वामी का विकट रूप उन्होंने कभी देखा नहीं था आज तक जानती है स्वाम है जानती उन्हीं का रूप है पर देख करके और आंखें मुंद गई लक्ष्मी की भागी वहां से दौड़ी दौड़ के वही ब्रह्मा जी से बोले महाराज मेरे बस का ये ही, ही ये रूप नहीं है मैं भी सुना थी जिस रूप से मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं इतना भयानक रूप तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई रूप तो वो भी आपका ही था पर आपके वो भयानक और वो बामन रूप इतने बड़े बड़े पैर कर लिए उन्होंने कि तमाम ब्रह्मांड को नाप लिया और हमने तो बड़े ब्रह्मा जी ने कहा दूर से ही चरणों पर पानी डाल के कमंडल में ले लिया उन पैरों का माप तोल कौन करे बड़ी आफत तो ये मृदुल जो आपकी ये मृदुल मृदुल चरण जो है तो हमने आज ही देखे नन्हे नन्हे से ये चरण और ये ब्रज की श्यामल तृणभूमि पर ये विचर रहे और सखाओं के साथ विचर रहे और दौड़ रहे ये चरण जो हैं ये हमने पहले कभी नहीं देखे इसलिए इन मृत चरण वाले जो आते हैं आपको नमस्कार अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि नमस्कार नमस्कार तो सारा कर लिया पर ये मिले कैसे ये मिले कैसे कोई साधन होना चाहिए ना उनके मिलने का तो ब्रह्मा जी के मन में बात आई ये सारी बातें स्फूर्त हो जाती हैं जब प्रेम राज्य में प्रवेश होता है तब कि भाई कोई आकाश में पक्षी उड़ रहा है कि कारण में ये लिखा आकाश में पक्षी उड़ रहा है अब कोई उसको पकड़ना चाहता है तो क्या पीछे पीछे दौड़ने से वो पकड़ा जाएगा उसके पकड़ने की कला जाननी चाहिए और वो कला हरेक नहीं जानता जो बहरिया उसे पकड़ने की कला में निपुण है वही पकड़ सकता है